नन्नी जलपरी एक दफा का जिक्र है एक नीले गहरे समुंदर के दिल में समुंदर के बादशाह की खूबसूरत बादशाहत थी जिसमें वो अपनी छह बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था बादशाह को अपनी तमाम बेटियों से बहुत प्यार था लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसको सबसे छोटी वाली से था नन्नी जलपरी एवा एक दिन बादशाह की पांचवी बेटी की सालगिरह थी सब बादशाह के दरबार में सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए थे साल मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची बहुत शुक्रिया अबू सालगिरह मुबारक शहजादी शुक्रिया सबका शुक्रिया मुझे बहुत फख्र है कि मेरी पांचवी बेटी मरीना आज अठारह की हो गई है मैं उसे खुशकी पर भेजूंगा ताकि वो सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा से लुत्फानंदोज हो सके सब खुशियाँ मनाओ मजे बहुत शुक्रिया अबू समुंदर की दुनिया के कुछ असूल हैं जिनकी हमने इतात करनी है ये समुंदर की दुनिया इंसानों की दुनिया की तरह नहीं हम समुंदर से ताल्लुक रखते हैं और समुंदर में ही रहते हैं एहतियात करो और इंसानों के पास मत जाना अबू क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ अभी तुम्हारी बारी नहीं मेरी प्यारी मगर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ ओ एवा जब तुम अठारह की हो जाओगी मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अरे नहीं मुझे आपके लिए अफसोस है शहजादी मेरे अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते हाँ, हाँ सब जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन यहाँ कुछ असूल हैं जिनकी हमने पाबंदी करनी है अभी एक साल बाकी है आपकी बारी में क्या वाकई आओ चलो फिश बॉल खेले नन्नी जलपरी बहुत खूबसूरत थी वो समुंदर की बाकी मखलूक के साथ बहुत मेहरबान थी सबको उस पर नाज था दादी माँ क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं नहीं उनकी टांगे होते हैं हमारे नहीं होते ओह तो इंसान हमसे बढ़तर है नहीं उन्होंने माहौल की हिफाजत करना नहीं सीखी हमारे समुन्दर को आलूदा कर दिया मैंने सुना है कि वो हमसे ज्यादा जीते हैं नहीं तो इंसान की उम्र सिर्फ सौ साल तक या इससे कम होती है और हम कितना जिंदा रहते हैं हम खुदा के करम से तीन सौ साल तक जिंदा रह सकते हैं जलपरियां मर जाती हैं तो उनका वजूद खत्म हो जाता है और वो समुद्री झाग बन जाती हैं मगर सबसे ज़रूरी बात अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अच्छे काम करें तो अमर हो जाते हैं और आसमानी देवी परियां हमें अपने साथ रहने के लिए जन्नत ले जाती हैं क्या वाकई दादी माँ बहुत देर हो चुकी है अब तुम सो जाओ शब खैर शब खैर दादी माँ इंसानों को देखने की तमन्ना लिए एवा हर दिन गिनने लगी दिन गुजरते गए छोटी जलपरी का इंसानों को देखने का इश्तियाक बढ़ता चला गया उसकी अठारहवीं सालगिरह से पिछली रात वो सारी रात न सो सकी जो ही वो बादशाह के दरबार में पहुंची उसकी बहनें उसकी तरफ बढ़ी और उन्होंने उसको सालगिरह की मुबारकबाद दी शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी ईवा शुक्रिया अबू मुझे बहुत नाज है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज अठारह की हो गई है यही वो वक्त है आप अपना वादा पूरा करें बादशाह सलामत हाँ छोटी शहजादी चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ अरे नहीं अबू आपने सबको अकेले जाने की इजाज़त दी थी मैं भी जमीन देखना चाहता हूँ अपनी प्यारी के साथ नहीं जब आप अस्सी के हो जाएंगे तब मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी <laughs> मेरी शरारती बच्ची जाओ और अपना ख्याल रखो लेकिन मोहतात रहना इंसानों के नजदीक मत जाना तुम मुसीबत में पड़ सकती हो फिक्र मत करे जहाँ पना मैं इसका ख्याल रखूंगा हाँ शाबाश मगर अंधेरा होने से पहले लौट आना वरना मैं तुम्हारा खाना बना दूंगा हम शाम तक वापस आ जाएंगे जहाँ पना छोटी जलपरी बाहर की दुनिया को देखकर बहुत पुरजोश हुई वो झींगे से भी ज्यादा तेज तैरने लगी ओ, मैं बहुत खुश हूँ रुको मेरे लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती जल्द ही नन्नी जलपरी समुंदर के ऊपर पहुँच गई हाँ। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था नीला आसमान चमकता सूरज प्यारे परिंदे ओ मेरे खुदाया कितना जबरदस्त है मेरे ख्वाबों से भी बेहतर ओ वो क्या आवाज आ रही है वो एक जहाज है और वो लड़का ओ खुदाया वो तो मेरी गुड़िया की तरह है मेरा ख्याल है वो शहजादा है वो उसकी सालगिरह मना रहे हैं ओ वो शहजादे की खूबसूरती को देखकर बहुत मशहूर हुई और गाने लग पड़ी साथ ही काले बादल आसमान पर छाने लगे और पूरे समुद्र पर एक बड़ी मौज आने लगी देखो तूफान ओ मुझे लहरों से महसूस हो सकता है वो जहाज मोहतात रहो शहजादी मोहतात रहो मगर किसी ने उसकी चीखों पुकार नहीं सुनी और हवा इतनी तेज थी कि उसने जहाज को हिलाना शुरू कर दिया और जहाज डूबने लगा अरे नहीं वो शहजादा हमें उसे बचाना चाहिए नन्नी जलपरी ने शहजादे को बचा लिया और उसके साथ तैरती हुई साहिल तक पहुंच गई है, है, है, अपनी आंखें खोलो शहजादे वो शहजादे के होश में आने का इंतजार कर रही थी इवा जल्दी करो कोई आ रहा है ओ, मुझे अब जाना होगा शहजादे अपना ख्याल रखना ओ समंदर में कोई मर गया है ये तो अभी भी जिंदा है इसे बंदर लेके चलते हैं तभी शहजादे को होश आ गया और उसने उन लड़कियों में से एक लड़की को हाँ। देखा मेरी जान बचाने का शुक्रिया शहजादा ये समझ न सका कि नन्ही जलपरी थी जिसने उसको बचाया था अरे नहीं तुमने उसको बचाया और वो इस बात का फायदा उठा रही है ऐसा ही सही मैं उसे जिंदा देखकर खुश हूँ सूरज ढलने लगा और वो वापस अपने जहां लौट गए नन्नी जलपरी उदास थी जैसा कि वो जानती थी कि वो शहजादे को फिर से नहीं देख सकेगी मेरे शहजादे मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता ये दर्द जो होता है क्या प्यार इतना बुरा होता है प्यार इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज है हम्म मेरा ख्याल है मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ ये समुन्दर के कानून के खिलाफ है मुझे नहीं परवाह मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए एक तरकीब है मगर खदशा है कि बादशाह मुझे खा जाएगा मुझे बताओ मेरे अब्बू की फिक्र न करो अच्छा एक है जो तुम्हारी मदद कर सकती है लेकिन उससे मिलना बहुत खतरनाक है मैं अपने शहजादे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मुझे बताओ कौन है वो काले पहाड़ों की समुद्री चुड़ैल वहाँ जाना बहुत खतरनाक है कुछ भी सोचे बिना नन्नी जलपरी और झींगा महल छोड़कर चुड़ैल के गार की तरफ चल पड़े चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि शहजादी उसकी गार की तरफ आ रही है <laughs> बेचारी लड़की अब सब खत्म हो गया शहजादी समुंदर की सबसे प्यारी और मददगार मखलूक थी और क्योंकि वो अपने अच्छे कामों की वजह से दूसरी ज़िंदगी में परी बन जाएगी और तुम्हारे तमाम गुनाहों का खात्मा हो जाएगा जैसे ही वो परी बनेगी तुम अपनी ज़िंदगी खो बैठोगी नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी हा हा हा हा हा ओ मेरे बादशाह की बेटी चुड़ैल के गार में क्यों आई है मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंसान बन जाऊं। ओ, उस जवान शहजादे के लिए जी मुझे शहजादे से प्यार हो गया है इससे तुम्हें दुख मिलेगा प्यारी शहजादी मुझे कोई परवाह नहीं मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ क्या तुम्हें यकीन है हा हा हा हा कि तुम उसका दिल जीत लोगी जी मैं कर सकूंगी खैर मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ मगर इसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी जितनी मैं अदा कर सकती हूँ करूंगी ठीक है बदले में मैं तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ ले लूंगी याद रखना अगर शहजादे को वाकई तुमसे प्यार हो गया तो तुम इंसान बन जाओगी और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी अगर तुम इसका प्यार न जीत सकी तो तुम एक टूटे हुए दिल के साथ पड़ जाओगी और समुद्री चाक में बदल जाओगी मैं मैं उसके लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती हूँ ठीक है ये जादुई शरबत ले जाओ जब तुम खुशकी पर पहुंचो तो इसको पी लेना हा हा हा नन्ही जलपरी ने वो शरबत लिया और साहिल की तरफ चल पड़ी जो ही वो सतह पर पहुंची और उसने वो शरबत पिया अचानक एक जोरदार दर्द से वो बेहोश हो गई और उसकी दुम टांगों में बदल गई जब उसे होश आया तो शहजादा उसके पास था अपनी आंखें खोलो खूबसूरत लड़की तुम अब महफूज हो लेकिन तुम कहां से आई हो तुम मुझे साहिल पे मिली मैं तुम्हें यहां ले आया अब आराम करो अगले दिन नन्नी जलपरी चलने लग पड़ी शहजादे ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ वाह मैं आज बहुत खुश हूं क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी वाह तुम बहुत अच्छा रक्स करती हो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है मुझे अपनी जिंदगी का प्यार मिल चुका है तुमसे प्यार है देखो मेरे अबू वापस आ चुके हैं खुश आमदीद अबू मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी की मोहब्बत से मिलें उसने मेरी जिंदगी बचाई है मैं इससे प्यार करता हूं अबू इससे शादी करना चाहता हूं मेरे प्यारे बेटे तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है नन्ही जलपरी का दिल टूट चुका था मेरे दिल में बहुत बुरी दर्द होती है बादशाह ने शहजादे की शादी का ऐलान किया मैं उसे हमेशा के लिए खो चुकी हूँ और अब सुबह की पहली किरण मेरे लिए मौत ले आएगी और मैं समंदर में गायब हो जाऊंगी झींगा महल पहुंचा और उसने समुद्री बादशाह को और उसकी बेटियों को तमाम बात सुनाई ए खुदा मेरी बेटी पर रहम करना ये जरूर उस चुड़ैल की कोई चाल है बादशाह ने समुद्री देवी से दुआ की और अपना त्रिशूल लेके झींगे के साथ तैरता हुआ सतह तक पहुंच गया उसी वक्त तमाम बहनें तैरती हुई चुड़ैल के गार तक पहुंची मेरी बहन अब वाकई मुश्किल में है हम तुमसे गुजारिश करती हैं अपना जदोई टोना वापस ले लो हाँ मेहरबानी करके हम तुम्हारी ये रहम दिली कभी नहीं भूलेंगे हा हा हा हा हा हा कितने शर्म की बात है अजीम समुंदर की शहजादी एक चुड़ैल से भीख मांगते हुए खैर मेरे पास एक जादुई तोड़ है मगर इसके लिए उसे शहजादे का खून करना होगा हाँ। हा हा हा हा हा हा जब ये नन्ही जल परी शहजादे को इस जादुई खंजर से मार देगी तब ही ये वापस जल परी बन सकती है बहनें तैरती हुई सतह की तरफ गईं। और अपने अब्बू को जादुई तोड़ के बारे में बताया उन्होंने ईवा को देखा तो वो साहिल पर दरख्त के नीचे बैठी खिलौने की तरफ देख रही थी ईवा अब्बू बहनों मत रो मेरी बच्ची अगर तुम चुड़ैल के जादू को वापस करना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ तुम्हें शहजादे को मारना होगा और तुम वापस चल परी बन जाओगी नहीं अब्बू मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो मेरी बच्ची मगर वो तुम्हारा कभी नहीं बन सकता इवा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेरे बच्चे नन्नी जलपरी ने अपने अब्बू और बहनों की तरफ देखा तो वो रो रहे थे उसने वो खंजर निकाला और महल की तरफ चल पड़ी शहजादा अपने कमरे में सो रहा था उसने वो खंजर निकाला और उसको मारने के लिए उसकी छाती की तरफ बढ़ाया ओ खुदा मैं अपने प्यार के साथ ये नहीं कर सकती मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन उसे नहीं मार सकती वो अपने प्यार से शादी कर ले और खुश रहे खुश रहो मेरे प्यार वो वापस अपने अबू और बहनों की तरफ लौटी सब हैरान थे कि खंजर पर कोई खून नहीं लगा हुआ था सूरज तुलू होने वाला था वो साहिल के पास पहुंची और फिर उसने समुंदर में अपने खिलौने के साथ छलांग लगा दी मैं छाक बनकर गायब हो जाना चाहती हूँ अलविदा मेरे प्यार अलविदा अबू अलविदा मेरी बहनों मुझे माफ कर देना अल्लाह हाफिज अचानक एक पुरस्कार कुत ने उसको पानी से बाहर धकेल दिया आसमानी परियां नमोदार हुई और उसे समुद्र से बाहर निकाल के ले गई अरे देवियो मेरी बेटी को बचाने का शुक्रिया हाँ, ये मैं कहा हूँ तुम हमारे साथ आसमान पर हो हम आसमानी परियां हैं हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी रहम दिली और इंसानों और समंदरी मखलूक के लिए प्यार पर इनाम देने आई हैं तुम अब एक अमर रूह हासिल कर सकती हो और तुम आइंदा बतौर इंसान पैदा होगी बहुत शुक्रिया परी माओ नन्नी जलपरी ने हाथ हिलाया और आखिरी दफा सबको अलविदा कर दिया मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी प्यारे शहजादे अगले जन्म में भी तुम मेरी मोहब्बत होगी अलविदा प्यारे शहजादे अलविदा वो आसमानी परियों के साथ ऊपर ही ऊपर जन्नत में जाती गई